और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज की इतबा करो जो अल्लाह ने उतारी है तो वो कहते हैं नहीं बल्कि हम तो उस तरीके के पीछे चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है भला अगर शैतान उन बाप दादों को भड़कती आग की तरफ बुलाता रहा हो क्या तब भी वो उन्हीं के पीछे चलेंगे